सुलेमान बिन बिलाल ने रबिया से अबू मुसाब अजहरी की मजकूरा वाला सनत से इसी के हम माना रिवायत किया सुलेमान ने कहा कि मैं सुहेल से मिला और उनसे यह हदीस दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं मैंने कहा कि मुझे रबिया ने आपके वास्ते से रिवायत की है तो उन्होंने कहा अगर रबिया ने तुम्हें बताया है कि उसने मुझसे रिवायत किया है तो उसे बवास्ता रबिया मुझसे रिवायत करो सुनने अबू दाऊद हदीस नंबर तीन हजार छह सौ ग्यारह